हाँ, नमस्कार मित्रों ये वीडियो ट्रांजैक्शन टैक्स के खिलाफ है मैं वेल्थ टैक्स इनहेरिटेंस टैक्स ये सारे टैक्स में विश्वास रखता हूँ जिसके बारे में मैं एंड में बताऊंगा मेरा एक वेल्थ टैक्स पे पूरा दूसरा वीडियो है एक वीडियो ट्रांजैक्शन टैक्स पे भी है इस वीडियो में मैंने नंबर के साथ कुछ और डेटा रखा है तो ट्रांजेक्शन टैक्स में प्रपोजल क्या है पहले पहले तो किसी सीरियस इकोनॉमिस्ट ने आज तक इस प्रपोजल को ध्यान नहीं दिया जो कुछ लोग हैं जो कि मेरा मानना है कि एक्टिविस्ट को मिसगाइड करने के लिए प्रपोजल रख देते हैं ताकि एक्टिविस्ट के सामने एक हरा भरा पिक्चर आ जाए तो अनिल बोकिल करके एक व्यक्ति है अर्थ क्रांति इन्होंने क्या कहा है कि वो सारे ट्रांजैक्शन टैक्स निकाल देंगे सारे टैक्स निकाल देंगे यानी एक्साइज कस्टम फिर ये इनकम टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स सारे टैक्स निकल जाएंगे और सिर्फ ट्रांजैक्शन टैक्स बचेगा और ट्रांजैक्शन टैक्स क्या है उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है पहले वो क्लियर नहीं कर रहे कि वो 2 परसेंट होगा या 0.3 परसेंट होगा मैं दिखाऊंगा कि 2 परसेंट से इकोनॉमी पूरी बैठ जाएगी 0.3 परसेंट से आधी इकोनॉमी बैठ जाएगी और मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में लगेगी और 0.3 परसेंट से सफिशिएंट पैसा नहीं आने वाला यानी ट्रांसलेशन टैक्स के साथ यदि 0.3 परसेंट हुआ तो बहुत सारे और टैक्स चालू रखने पड़ेंगे यानी उनका जो दूसरा पॉइंट है कि सारे टैक्स खत्म हो जाएंगे वो गलत है और 0.3 परसेंट से भी इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा तो एक तो उनके डॉक्यूमेंट में ये क्लियर नहीं है कि ट्रांजेक्शन टैक्स टू परसेंट होगा पॉइंट परसेंट होगा शुरुआत कब होगी कैसे बढ़ेगा वगैरह दूसरा अनिल पोकिल ने अभी तक ट्रांजेक्शन टैक्स का ड्राफ्ट नहीं दिया यानी वैसे देखा जाए तो न उसकी प्रपोजल का समर्थन कर सकते हैं ना विरोध कर सकते हैं तो ये वीडियो ऑडियो में क्यों बना रहा हूँ वीडियो में क्यों बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता ट्रांजैक्शन टैक्स के चपेट में आके जो सीरियस प्रपोजल है वेल्थ टैक्स इनहेरिटेंस टैक्स उसका स्टडी नहीं कर रहे और ये मानते हैं कि ट्रांजेक्शन टैक्स से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो पहले तो ट्रांजेक्शन का अमाउंट कितना है तो ये डेटा मैं आपको रिजर्व बैंक से वेबसाइट से लिया है 2011-2012 यानी कि 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2012 तक का डेटा है रिजर्व बैंक के अनुसार चेक और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है एक हजार लाख करोड़ ये आंकड़े हमेशा बड़े होंगे देखो हम पूरे 100 करोड़ के देश की बात कर रहे हैं 120 करोड़ के देश की बात कर रहे हैं तो आंकड़े तो सारे लाख करोड़ में जाएंगे पर यदि पर सिटीजन देखो तो 10 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ पर सिटीजन करीब करीब और देश की जीडीपी कितनी है 100 लाख करोड़ से थोड़ी कम है 100 लाख करोड़ मान लेते हैं थोड़ी कम है अब कैश ट्रांजैक्शन कितने हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि कैश का रिकॉर्ड तो हमारे देश में मतलब अधिकतर कैश के लिए रिसीट तो कटती नहीं है तो वो सारा अनुमान हो जाएगा एक तरह का कि कैश ट्रांजेक्शन कितना है लेकिन मैं अनुमान कैसे निकाल रहा हूं कि 400 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता मैं ज्यादा बता रहा हूं 400 लाख करोड़ कि जो दो नंबर की इकोनॉमी है उसका एस्टीमेट है तीस लाख करोड़ तो यहाँ पे ratio one is to ten है यहाँ पे मैंने ratio one is to ten से थोड़ा ज्यादा मान लिया वैसे कम होना चाहिए बाद में बताऊंगा कम क्यों होना चाहिए तो चार सौ लाख करोड़ हो गया उससे ज्यादा मुमकिन है दूसरा कि लिक्विड कैश कितना बैंक में हमारे यहाँ कितना पैसा है fix deposit current account savings account सब मिला के बैंक में पैसा है कुछ सत्तर लाख करोड़ और सत्तर लाख करोड़ से ट्रांजेक्शन हुआ एक हजार लाख करोड़ का और कैश रोकड़ा लोगों के पास कितना है पूरे देश में 10 लाख करोड़ तो मैं 40 गुना उसका मान रहा हूं 40 गुना मानने के पीछे लॉजिक क्या है कि एक आदमी के हाथ में पैसा आया तो वो कम से कम तीन दिन उसके पास रुकेगा किस सेंस में मैं बोल रहा हूं कि जो छोटे नोट होते हैं वह बहुत तेजी से घूमते हैं कि आपने पचास रुपया रिक्शा वाले को दिया रिक्शा वाले ने उसका या तो पेट्रोल ले लिया या तो दूसरे दिन उसने अपने घर का किराना ले लिया लेकिन जो बड़े नोट है जो हजार हजार नोट के थैले होते हैं वो इस तरह से हर तीसरे दिन चौथे दिन नहीं घूमते वो हजार के नोट का थैला होता है वो कब घूमता है जब कोई आदमी या तो किसी नेता या अधिकारी या जज को रिश्वत देता है या तो वो कोई बहुत बड़ा जमीन का प्लॉट खरीद रहा है या वो सोना खरीद रहा है सबसे ज्यादा कैश उसी में यूज हो रहा है तो वो हर तीन तीन दिन बाद इस तरह के ट्रांजेक्शन नहीं करता आमतौर पर साल में इस तरह के दस ट्रांजेक्शन तो बहुत हो गए तो तो भी दस ट्रांजेक्शन के बजाय मैं मान रहा हूं कि वो साल में तीस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो कुल दस लाख करोड़ साल में साल में तैतीस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो दस लाख करोड़ अमाउंट है और उसको चालीस साल में चालीस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उसका चालीस गुना यानी 400 लाख कैश ट्रांजैक्शन हुआ तो दोनों को मिला के कैश और ट्रांजैक्शन मिला के हो गया 1200 लाख करोड़ अब ट्रांजैक्शन टैक्स अनिल वकील की जो प्रपोजल है उसमें यह है कि 2000 से ऊपर कोई ट्रांजैक्शन होगा तो वो बैंक के द्वारा करना पड़ेगा बैंक में फिर क्रेडिट कार्ड आ गया इसमें क्रेडिट कार्ड भी आ गया ये चेक इलेक्ट्रॉनिक में या तो चेक के द्वारा करना पड़ेगा कैश नहीं होगा वो कैसे उसको एनफोर्स करेंगे कैसे इंप्लीमेंट करें वो अभी तक उन्होंने बताया नहीं है पर चलो मान लेते हैं कि उनका सिस्टम है वो इंप्लीमेंट हो जाता है किसी तरह से तो अब टोटल ट्रांजेक्शन है बारह सौ लाख करोड़ अब सरकार की रिक्वायरमेंट कितनी है सरकार की रिक्वायरमेंट है बारह लाख करोड़ ये केंद्र सरकार राज्य सरकार और जो लोकल बॉडीज है म्यूनिसिपैलिटी वगैरह सबका मिला के खर्चा होता है बारह लाख करोड़ से ज्यादा इतना इनको टैक्स साल में चाहिए अब एक अलग प्रपोजल हो गई कि ऐसे हम कैसे खर्च कम करें बहुत सारे फिजूल खर्चे हैं जो कि कम किए जा सकते हैं पर वो जब तक कम नहीं हो सकते तब तक तो इतना पैसा चाहिए दूसरा फिजूल खर्चे कम होंगे लेकिन बहुत सारे जरूरी खर्च भी हमको करने हैं जैसे कि सेना का बजट हमें चार गुना करने की जरूरत है क्यों क्योंकि चीन और अमेरिका इतने हथियार बना रहे हैं तो हमको भी बनाने पड़ेंगे आज नहीं तो कल वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे पूरा खत्म हो जाएगा देश तो सेना का बजट बनाने की जरूरत है कम से कम पांच गुना करने की जरूरत है चार गुना करने की जरूरत है सैनिकों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है उनकी तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत है फिर अदालत हमारे यहाँ कम है चीन में दो लाख अदालतें हैं भारत में कितनी अदालतें हैं सब मिला के सोलह हजार अठारह हजार तो अदालतों की संख्या मिनिमम एक लाख करने की जरूरत है पुलिस की संख्या कम है हमारे यहाँ तो पुलिस की संख्या बढ़ाने की जरूरत है फिर बाकी रोड एजुकेशन उस पर भी खर्च करने की जरूरत है तो 12 लाख करोड़ अभी तो खर्चे कम होंगे लेकिन साथ साथ में जरूरी खर्चे वो भी बढ़ेंगे लेकिन वो एक अलग पूरा टॉपिक हो गया ट्रांजेक्शन टैक्स का सवाल है तो ये कहते हैं कि 1200 लाख करोड़ पे एक परसेंट ट्रांजेक्शन टैक्स होगा तो वो 12 लाख करोड़ आ जाएगा यानी इनकम टैक्स सेल्स टैक्स सब कुछ हटा दिया सिर्फ एक परसेंट का ट्रांजेक्शन टैक्स लगा अब मैं आपको कहूंगा कि एक परसेंट ट्रांजेक्शन टैक्स सफिशिएंट नहीं है कुछ लोग कहते हैं कि point three percent transaction tax equal to point three percent उससे भी बारह लाख करोड़ आ जाएगा मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये क्यों इस आंकड़े पे मैं भरोसा नहीं कर रहा एक तो ये जितने ट्रांजेक्शन है क्या वो सब पे टैक्स लगाना चाहते हैं तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन बैंक टू बैंक होते हैं जिस पे वो टैक्स नहीं लगाने वाले उनकी खुद की प्रपोजल है कि जिस ट्रांजैक्शन में एक पार्टी बैंक है उस टैक्स नहीं लगेगा यानी ट्रांजैक्शन का जो 1200 लाख करोड़ का आंकड़ा है उसमें इंटर बैंक ट्रांजेक्शन आगे मैंने बैंक में पैसा रखा मैंने सेविंग्स का पैसा फिक्स डिपोजिट लिया तो वो भी ट्रांजेक्शन हो गया वो टैक्स में नहीं आएगा क्योंकि वो बैंक टू बैंक हो गया तो उस पर नहीं लगने वाला फिर बैंक ने मुझे पैसा दिया मान लो मैंने वो तो उस पर भी ट्रांजैक्शन नहीं लगने वाला तो इस तरह से bank bank to bank transaction ये तीन तरह के ट्रांजैक्शन पे वो टैक्स नहीं लगाने वाले तो 1200 लाख में से ये आंकड़ा कम करना चाहिए अब ये आंकड़ा कितना है वो तो रिजर्व बैंक को भी नहीं पता इसका अंदाज लगा सकते हैं जो भी अंदाज आपको ठीक लगे आप लगा लो आप अलग अलग सीनारियो बनाइए मैं आपको कहता हूं कि किसी भी सीनारियो में ट्रांजेक्शन टैक्स फिट नहीं होता और जब फिट होता है तो वो इकोनॉमी खत्म कर देता है अब उसके बाद उनकी प्रपोजल में कुछ बहुत हास्यास्पद और गंभीर बातें हैं हास्यास्पद भी है और उनका कहना है कि यदि मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है और मैंने पैसा ट्रांसफर किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो उस पर ट्रांजेक्शन टैक्स लगेगा यानी बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं उनकी ये जेन्यून रिक्वायरमेंट होती है कि उनको एक खाते में से दूसरे खाते में ट्रांसफर करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने सब्सिडरी खोल के रखी होती है और वो जरूरी होता है तो बिना मतलब का उनको साल का उनका चार पांच परसेंट पैसा जो है वो इस तरह के फिजूल खर्ची के ट्रांजैक्शन में टैक्स में चला जाएगा जबकि उन्होंने कमाया कुछ नहीं मैं अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते से एसबीआई में ट्रांसफर करता हूं तो मैंने कुछ कमाया नहीं नई सोसाइटी पे बर्डन डाला दूसरा एक फैमिली मेंबर दूसरे फैमिली मेंबर को पैसा ट्रांसफर करता है तो उस पर भी ट्रांजेक्शन टैक्स लगेगा तीसरा एक कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी के खाते में पैसा ट्रांसफर करती है तो भी उस पर टैक्स लगेगा फिर जब ये 12 लाख करोड़ का टैक्स बताया जाता है तो आप एक ध्यान रखना कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पैसा देगा बैंक से तो भी उस पर ट्रांजेक्शन टैक्स लगेगा यानी 12 लाख जो सरकार टैक्स आज ले रही है उसमें सरकार टैक्स दे नहीं रही सरकार सिर्फ टैक्स लेती है जबकि ट्रांजैक्शन टैक्स आने के बाद सरकार टैक्स देगी और वही सरकार टैक्स लेगी तो ये 1200 लाख में से जितने गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शन है वो सब्ट्रैक्ट करने चाहिए अब उसका अंदाज भी किसी के पास नहीं है कि कितने हैं लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करोगे गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन क्यों वो सब्ट्रैक्ट करने चाहिए क्योंकि उसमें गवर्नमेंट को कोई इनकम नहीं हुई मान लो केंद्र सरकार ने गुजरात सरकार को पैसा दिया तो पर ट्रांजैक्शन टैक्स लगा तो सरकार को भी टैक्स देना पड़ा सरकार ने वो टैक्स लिया यानी नेट टैक्स रेवेन्यू तो जीरो हो गई तो ये ट्रांजैक्शन का 1200 लाख का आंकड़ा क्यों एग्जाजरेटेड है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट निकालना पड़ेगा फिर गवर्नमेंट जब पर्सन को पैसा देती है तो वो भी निकालना पड़ेगा पर्सन गवर्नमेंट को देता है तो वो भी निकालना पड़ेगा यानी जो नेट रेवेन्यू है मतलब नेट ट्रांजैक्शन टैक्स ऐसे ट्रांजैक्शन टैक्स जिससे कि गवर्नमेंट को नेट रेवेन्यू होगी वो 1200 लाख करोड़ से कम है 1200 लाख करोड़ से कम है यानी कि एक परसेंट ट्रांजैक्शन टैक्स से नहीं चलेगा यदि सारे टैक्स हटाने हैं सारे टैक्स हटाने हैं और सिर्फ ट्रांजेक्शन टैक्स लग रहा है तो एक परसेंट से कहीं ज्यादा ट्रांजेक्शन टैक्स लेना पड़ेगा शायद डेढ़ परसेंट लेना पड़ेगा या हो सकता है दो परसेंट ट्रांजेक्शन टैक्स लेना पड़ेगा तो ये जो कहा जाता है कि 0.3 परसेंट ट्रांजेक्शन टैक्स से सारे टैक्स निकल जाएंगे वो गलत है या 1 परसेंट ट्रांजेक्शन टैक्स से सारे टैक्स निकल जाएंगे वो भी गलत है या तो फिर ये होगा कि 1 परसेंट ट्रांजेक्शन टैक्स होगा तो कुछ एक टैक्स निकल जाएंगे शायद वैट निकल जाए एक्साइज निकल जाए लेकिन बाकी सारे टैक्स चले रहेंगे तो ओर्थ क्रांति की प्रपोजल में क्लियर नहीं है कि बाकी ट्रांजेक्शन टैक्स के सिवा कोई और टैक्स रखना पड़ा तो वो कौन सा रखेंगे वो क्लियर नहीं है वो कहते हैं कि ट्रांजेक्शन टैक्स आएगा अब सारे टैक्स निकल जाएंगे अब दो परसेंट यदि ट्रांजैक्शन टैक्स हुआ तो इकोनॉमी कैसे खत्म हो जाएगी देश की सबसे आसान एग्जाम्पल हम लेते हैं गेहूं का गेहूं किसान ने उगाया उसने अपने गांव की मंडी में बेचा या जिले की मंडी में बेचा कभी-कभी दो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर कैसे हो गए कि मान लो गेहूं उसने महाराष्ट्र में बेचा और महाराष्ट्र वाला आके उसको गुजरात में बेचता है तो वो स्टेट लेवल का होलसेलर हो गया तो उसने अपने विलेज होलसेलर को बेचा उसने अर्बन यानी शहर के किसी होलसेलर को बेचा शहर के होलसेलर ने दुकानदार को बेचा दुकानदार से एक शहर का आदमी है उसको खरीद के लाया यानी गेहूं है वो एक यहां पे ट्रांजैक्शन टैक्स आएगा एक यहां पे आएगा एक यहाँ पे आएगा एक यहाँ पे आएगा यानी एक दो तीन चार या पांच यदि दो होलसेलर हुए तो मान लो महाराष्ट्र से गेहूं यदि गुजरात आता है तो जो महाराष्ट्र का मंडी का होलसेलर है वो सीधा अहमदाबाद के किसी शहर के होलसेलर के पास नहीं जा पाएगा उसको किसी राज्य लेवल स्टेट लेवल के होलसेलर के पास जाना पड़ेगा तो यहां दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं तो एक दो तीन चार पांच या छह आप पांच का एवरेज आंकड़ा मान लो यानी पांच बार यदि ट्रांजैक्शन टैक्स लगा और यदि ट्रांजैक्शन टैक्स एक परसेंट या दो परसेंट हुआ तो टोटल ट्रांजैक्शन टैक्स गेहूं में कितना लग जाएगा गेहूं जैसी कॉमन चीज पे टोटल ट्रांजैक्शन यानी टीटीटी टीटीटी यानी कस्टमर से लेकर रिटेल में टोटल ट्रांजैक्शन टैक्स हो जाएगा पांच परसेंट से लेकर यदि पांच यदि ट्रांजेक्शन टैक्स हम डेढ़ पर दो परसेंट जो उनकी प्रपोजल है उसमें मान के चले तो ट्रांजैक्शन टैक्स हो जाएगा दस परसेंट से लेके बीस परसेंट या दस परसेंट से लेके बारह परसेंट सॉरी दस परसेंट से लेके बारह परसेंट जितना ट्रांजैक्शन टैक्स हो जाएगा अब मान लो कोई बड़ी कंपनी फिर वो भारतीय हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो वो ये सारा चेन डिस्ट्रीब्यूट करके सीधा फार्मर से खरीदती है कस्टमर को बेचती है तो क्या होगा उसको यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ा यहाँ दूसरा देना पड़ा यहाँ उसने दो परसेंट दिया यहाँ इसने दो परसेंट दिया यानी उसका ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया चार परसेंट सिर्फ चार परसेंट हुआ और जो छोटे व्यापारी और छोटे होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर वो जो काम कर रहे उसका ट्रांजेक्शन टैक्स हो गया दस परसेंट से बारह परसेंट यानी इन लोगों का धंधा पूरा चौपट हो जाएगा खत्म हो जाएंगे ये लोग मतलब ये जो भी छोटे आदमी है छोटे आदमी में क्या होता है कि उनको बहुत सारे ट्रांजेक्शन करने पड़ते हैं क्योंकि जो मंडी का जो होलसेलर है, उसकी शहर में दुकान नहीं है। मंडी का होलसेलर है, उसके दूसरे राज्य में भी उसकी कोई दुकान नहीं है। उसके सिटी होलसेलर में भी कोई उसका शॉप नहीं है, वो किसी और आदमी की है। तो इन दोनों के बीच में ट्रांसलेशन हो गया, जबकि कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, वॉलमोट जैसी, उसने हरेक जिले में एक डिस्ट्रीब्यूटर खरीदने वाला रख दिया और हरेक शहर में एक होल गोडाउन रख दिया और उसकी जो सुपरमार्केट है वहां बेच रहा है तो ये उसके जो तीन चार ट्रांजैक्शन हुए वो उसके इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन हुए तो उसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा ये उनकी दूसरी दरखा क्योंकि वो तो ट्रांजैक्शन टैक्स हुआ ही नहीं ना इसमें पैसा जब पूरा एमएनसी करता है तो उन्होंने सिर्फ अपनी इंटरनल बुक्स में ट्रांसफर किया है उन्होंने कोई बैंक ट्रांजेक्शन किया ही नहीं है तो बैंक ट्रांजेक्शन उन्होंने कितना किया फार्मर को एक चेक लिया और कस्टमर से उन्होंने पैसा लिया तो उनको सिर्फ चार परसेंट यानी ये पूरा जो एक मार्केट है वर्तमान मार्केट है छोटे लोगों का वो खत्म हो जाएगा और एमएनसी उसको टेक ओवर कर लेगी अब यही होगा कपड़े में और उद्योग में तो और नुकसान होगा ज्वेलरी में भी वही होगा सारे सारे ग्रेम में मिनिमम पांच छह लोगों की चेन होती है आप ये चावल ले लो या ये आ, कोई भी कठोर पल्स ले लो जैसे चना है या दाल है तो उसमें मिनिमम पांच छह लोगों की चेन होती है हर जगह दो दो परसेंट टैक्स लगा मल्टीनेशनल कंपनी है उसको सिर्फ चार परसेंट टैक्स लगा यानी बारह से चार परसेंट आठ परसेंट का डिफरेंस यानी ये लोग खत्म हो गए कपड़े में अब कोई फैक्ट्री का एग्जांपल लेते हैं फैक्ट्री में कोई एक चीज बनती है तो पहले वो सामान दस फैक्ट्रियों से निकलता है जैसे एक नोटबुक है तो कागज कोई और छापता है उसका फिर कागज भी शुरुआत होती है यानी कोई लकड़ा काट के लाता है जंगल से वो होलसेलर को देता है होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है जो पेपर मिल चलाता है वो डिस्ट्रीब्यूटर से लकड़ा खरीदता है वो उसको प्रोसेस करता है फिर वहां से कागज है वो नोटबुक बनाने वाला खरीदता है वो काटता है और फिर वो बाइंडिंग करने के लिए किसी और के पास भेजता है बहुत सारे आप मैं, जहां पे ऑफसेट मैंने ये जहां किताब छपवाई तो ये अपनी दुकान में बाइंडिंग नहीं करता बाइंडिंग करने के लिए वो सारे कागज किसी और की जगह बेचता है वहां से बाइंडिंग होकर उसकी दुकान पे आता है फिर वो मुझे आ, और किताब पूरी की पूरी लाके देता है तो एक फैक्ट्री दो फैक्ट्री तीन फैक्ट्री इस तरह से दस फैक्ट्री होती है कुछ कुछ कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कॉम्प्लिकेटेड आइटम होता तो, तो पचास फैक्ट्रियां होती है उसमें इसी तरह से कपड़ा है तो कपड़े में भी देखो किसान के खेत में कॉटन की खेती होती है वहां से होलसेलर के पास जाता है वहां से दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है फिर डिस्ट्रीब्यूटर से फैक्ट्री वाले के पास जाता है फैक्ट्री वाला उसको कपड़ा बनाता है उसके बाद वो किसी और जगह पे डाइंग के लिए जाता है क्योंकि हर एक फैक्ट्री वाला हर एक तरह की डिजाइन अपने फैक्ट्री में नहीं लगता कहीं पे चेक्स डिजाइन होती है कहीं पे आ, लाइनिंग वाली डिजाइन होती है अलग अलग डिजाइन होती है फैक्ट्री वाले होते हैं वो चार पांच मेन कलर अपने पास रखते हैं बाकी सब वो किसी और को सफेद कपड़ा दे देते हैं या हल्का पीले रंग का कपड़ा होता है वो दे देते हैं और उसको वो आगे जाके प्रोसेस करते हैं तो डाइंग के लिए किसी और यूनिट में गया डाइंग के यूनिट है वो बड़े बड़े थान में हजार हजार मीटर के या तो मतलब ऐसे थान पे वो होलसेलर को देता है होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है वहां से दुकान पे आता है और फिर आखिर में कस्टमर आता है तो हर एक फैक्ट्री पे यहां पे मान लो दो दो परसेंट टैक्स लगा तो दस फैक्ट्रियां यानी बीस परसेंट एक होलसेलर एक डिस्ट्रीब्यूटर यानी इस पे टैक्स लगा ये जो पूरा नेटवर्क है फिर वो कपड़े का हो या कोई नोटबुक जैसी आइटम का हो उस पर टैक्स लगेगा कुछ अठारह परसेंट से लेके बीस परसेंट तक यदि 9-10 लेवल हो गए इसमें अब ये पूरा फैक्ट्री का धंधा है ये फैक्ट्री का धंधा जो है वो कोई एक बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी ले लेगी मैन्युफैक्चरिंग का वो सीधा किसान से कॉटन खरीद के सीधा कपड़ा पपड़ा सब प्रोसेस करके दूसरा एक वॉलमार्ट जैसी कोई रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होगी उसको देगी और वहां से सीधा कस्टमर आएगा तो इन्होंने फार्मर से सामान खरीदा या तो रॉ लकड़ा खरीदा तो यहाँ पे दो परसेंट ट्रांजेक्शन टैक्स यहाँ पे दो परसेंट यहाँ पे दो परसेंट यानी इनको आया ट्रांजेक्शन टैक्स छह परसेंट और जो एग्जिस्टिंग सेटअप है जिसमें सामान दस फैक्ट्रियों से गुजरता है दो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से गुजरता है और फिर कस्टमर के पास आता है उसमें ट्रांजेक्शन टैक्स आ जाएगा बीस परसेंट तो ये लोग धंधे में से निकल जाएंगे यानी ये सारा धंधा भी किसी बड़े कंपनी के हाथ में आ जाएगा देशी या विदेशी अब बड़ी कंपनी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि यदि कोई भारतीय वालमार्ट आती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे प्रॉब्लम क्या है यदि कोई बड़ी कंपनी मार्केट में एफिशिएंसी के द्वारा अपना धंधा बढ़ाती है और उसकी वजह से दूसरों का धंधा खत्म होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट की वजह से लेकिन यहां पर छोटी कंपनियों का धंधा खत्म हो रहा है टैक्स के कानूनों की वजह से जैसे पुणे में अभी एलबीटी है, लोकल बॉडी टैक्स है। तो इसी की तरह है कि जितनी बार सामान एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में जाएगा, उतनी बार एक एक एक एक परसेंट टैक्स लगेगा। और यदि एक बड़ी कंपनी सारा सामान अपने ही एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में कर रही है, लेकिन बैंक ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, सारा ट्रांजेक्शन उनकी बुक्स पे हुआ, तो उसको वो एक एक परसेंट जो हरेक लेवल पे टैक्स लग रहा है, वो नहीं लगेगा तो टैक्स के कानून की वजह से इनका सामान और इनकी सर्विस है वो सस्ती हो जाएगी और टैक्स की वजह से ये लोग धंधे में से साफ हो जाएंगे और इस बात से मैं खिलाफ हूं यदि कोई बड़ी कंपनी आके एमएनसी के तो मैं खिलाफ हूं पर मान लो कोई बड़ी भारतीय कंपनी यहाँ जैसे इंडियन वॉलमार्ट है इंडियन वॉलमार्ट एफिशियंसी के जरिए क्वालिटी के जरिए यदि छोटे रिटेलर को खत्म करती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं भी साफ साफ बोल देता हूं पर यदि टैक्स का कानून किसी भी बड़ी कंपनी को गलत फेवर दे रहा है तो वो टैक्स का कानून गलत है मैं नहीं यूज करना चाहिए फिर जो एक परसेंट का दूसरा ट्रांजेक्शन टैक्स में कहा जाता है कि उससे अकाउंटिंग सारा खत्म हो गया कि आपको बुक्स रखने की जरूरत ही नहीं है बैंक में जब पैसा जमा होगा तो वहीं पे दो परसेंट कट के सरकार को चला जाएगा यानी अकाउंटिंग रखने की जरूरत नहीं हो पड़ेगी पर भाई बैंक अकाउंटिंग खत्म हो गई पर पूरा धंधा ही खत्म हो गया यहाँ पे शायद अकाउंट रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बैंक में खाता रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ये जो जो हुलिया बन रहा है उसे तो लगता है कि मेरे अकाउंट रखने की झंझट भी खत्म हो गई और मेरा धंधा भी खत्म हो गया मेरा बैंक अकाउंट भी खत्म हो गया क्यों क्योंकि जो एक परसेंट का ट्रांजैक्शन टैक्स है वो ज्वेलरी बिजनेस को खत्म कर देगा ये जो एक तोला सोने का सिक्का होता है पच्चीस हजार से तीस हजार रुपए का जो आजकल मार्केट रेट है उसमें जो आखिरी ज्वेलर होता है जिसकी दुकान से आप खरीदते हो उसका मार्जिन क्या होता है मुश्किल से सौ रुपया यानी पॉइंट थ्री परसेंट यह उसका मार्जिन होता है ज्वेलरी के बिजनेस में आप गहना खरीदते हो तो थोड़ा मार्जिन होता है एक आध परसेंट जितना डेढ़ परसेंट जितना होता है लेकिन जब सोने का सिक्का खरीदते हो तो आखिर में जो ज्वेलर है उसका मार्जिन होता है पॉइंट थ्री परसेंट जो होलसेलर है जो कि सोने के बिस्किट खरीद के ज्वेलर्स में बेचता है उसका मार्जिन होता है पॉइंट वन परसेंट से लेकर point two percent point two percent तो उनको लॉटरी मानी जाती है यदि पॉइंट टू परसेंट मिल जाए जिस दिन अब एक परसेंट का ट्रांजेक्शन टैक्स उनको खत्म कर देगा यानी ज्वेलरी का पूरा बिजनेस है वो मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में चला जाएगा अब दूसरा जो धंधा खत्म हो जाएगा वो है शॉर्ट टर्म लैंडिंग का शॉर्ट टर्म लैंडिंग का धंधा जो पूरा भारत का छोटे बिजनेस है शॉर्ट टर्म लैंडिंग पे चलते हैं शॉर्ट टर्म लैंडिंग क्या होता है कि एक लाख रुपया ए ने बी को दिया एक लाख रुपया एक हफ्ते के लिए दो हफ्ते के लिए एक महीने के लिए और एक महीने बाद इसने लौटा दिया सूद के साथ सूद कितना होता है दो परसेंट से लेकर आठ परसेंट जो गांव में मनी लेंडर होते हो तो बीस बीस परसेंट भी लेते हैं पर इंडस्ट्री में दो से आठ परसेंट रेट चलता है पर मंथ आठ परसेंट तो बहुत ज्यादा हो गया बहुत कम जगह होता है पर दो परसेंट बहुत कॉमन है रिलेटिव टू रिलेटिव बोलते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं आजकल जो बिजनेसमैन है वो अपने किसी दूर के फैमिली मेंबर को या रिश्तेदार को जब पैसा देते हैं तो आजकल पर मंथ दो परसेंट का इंटरेस्ट चलता है तो एक महीने बाद उसने पैसा लौटाया एक लाख दो हजार अब एक एक परसेंट ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है तो इस पे ट्रांजैक्शन टैक्स लगा एक हजार इस पर ट्रांजेक्शन टैक्स लगा एक हजार बीस एक परसेंट ट्रांजेक्शन टैक्स यानी 2020 यानी जितना इनकम हुआ उतना या उससे थोड़ा ज्यादा टैक्स हो गया यानी शॉर्ट टर्म लैंडिंग का धंधा है वो पूरा खत्म हो गया अब अनिल बोकेल के आर्ग्यूमेंट क्या है साहब की कि जब ट्रांजैक्शन टैक्स आएगा तो इतना सारा पैसा आ जाएगा कि लोगों को प्राइवेट लैंडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बैंक से ही पैसा लेंगे और बैंक से पैसा लेते तो कोई ट्रांजेक्शन टैक्स नहीं होगा भाई बैंक के पास आज भी अनयूज मनी काफी है आज भी किसी भी बैंक में आप जाओगे तो देखोगे कि मैनेजर है वो ढूंढ रहा है कि भाई कोई लोन लेने आए एग्रीकल्चरल लोन का टारगेट मीट नहीं हो रहा हाउसिंग लोन का टारगेट मीट नहीं हो रहा व्हीकल लोन का टारगेट मीट नहीं हो रहा मैनेजर है वो व्हीकल के डीलरों को बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ के लोन ले जाओ क्योंकि उनको जो लोन के टारगेट दिए गए हैं वो मीट नहीं हो रहे तो पैसा आज भी बैंक के पास है पर वो स्मॉल बिजनेसमैन को पैसा नहीं दे रहे लोन पे क्योंकि स्मॉल बिजनेसमैन के पास प्रॉपर्टी नहीं है इतनी क्रेडिट नहीं है इतनी उनके पास इतने पेपर वर्क नहीं है कि जो लोन के लिए क्वालिफाई हो सके जैसे कुछ छोटे बिजनेसमैन है उसके पास घर होता है बंगला भी होता है पर वो बंगला मॉडगेट नहीं करना चाहता और कभी कभी उस बंगले के दो तीन मालिक होते हैं उसके भाई और मतलब कॉमन प्रॉपर्टी होती है तो एक भाई को इच्छा हो कि मॉडगेज कर दे तो दूसरे दो मना करेंगे तो उनके पास कोई मॉडगेजेबल प्रॉपर्टी नहीं है इसलिए बैंक उनको वैसे भी लोन नहीं दे सकते और उनको लोन उनके रिलेटिव में या उनके जान पहचान में क्यों देते हैं वो ट्रस्ट के ऊपर देते हैं और बदले में उसे चेक लिखवा लेते हैं स्टैम्प पेपर पे लिखवा लेते हैं और कभी कोर्ट के केस होते हैं कभी उनको घाटा भी जाता है जो भी होता है पर ये पूरा शॉर्ट टर्म लैंडिंग का बिजनेस है शॉर्ट टर्म लैंडिंग वो ट्रस्ट के ऊपर चल रहा है अब उस पर यदि इस तरह से एक एक परसेंट ट्रांजेक्शन टैक्स आ गया या point five percent transaction tax भी आया तो 0.5 परसेंट यानी 15 दिन का जो है वो तो खत्म हो गया एक महीने में भी 50 परसेंट प्रॉफिट तो चला गया तो अब वो देने के उसके चांसेस कम हो गए तो शॉर्ट टर्म लैंडिंग का बिजनेस पूरा खत्म हो जाएगा तो इससे जो स्मॉल बिजनेसमैन है वो सारे खत्म हो जाएंगे तो इतने नुकसान काफी है और भी नुकसान है एक तो ट्रांजेक्शन टैक्स है वो फंडामेंटली अनएथिकल है अनएथिकल यानी कि टैक्स क्यों डालना चाहिए क्योंकि सरकार को मैं जो काम कर रहा हूं उसकी वजह से कुछ खर्चा आ रहा है जैसे कि मेरे पास प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए सरकार को पुलिस रखनी पड़ती है अदालत रखनी पड़ती है सेना रखनी पड़ती है इसलिए सेना पुलिस और अदालत का खर्चा वो मेरी प्रॉपर्टी से निकालेंगे वो जायज बात हुई वो एथिकल है जबकि ट्रांजैक्शन टैक्स में एक मेंबर ने अपने फैमिली मेंबर को पैसा दिया तो इसमें सरकार पर क्या बर्डन बढ़ा सरकार पे कोई बर्डन नहीं बढ़ा पूरा पैसा बैंक में था बैंक में तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है पेपर फॉर्म में है बैंक अपना खर्चा ट्रांजेक्शन से निकाले वो ठीक है और वो तो निकालती भी है बैंक ये जितने भी ट्रांजेक्शन बैंक के अंदर हो रहे हैं उसका सारा खर्चा बैंक एक या दूसरे तरह से कस्टमर से वसूलती है और उसमें कोई बुराई भी नहीं है उसमें इनएफिशिएंसी है वो इनएफिशिएंसी हमें दूर करनी चाहिए पर वो फंडामेंटली अनएथिकल नहीं है पर यह कहना कि सेना का खर्चा मैं इसमें से निकालूंगा या इस ट्रांजैक्शन में से निकालूंगा वो अनैथिकल है क्योंकि इस ट्रांजैक्शन ने कोई बर्डन ऐड नहीं किया बर्डन सबसे ज्यादा ऐड होता है प्रॉपर्टी की वजह से कि आज दूसरा देश है वो हम पे हमला क्यों करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास मिनरल्स है ज्वेलरी है गोल्ड है या सिल्वर है या फिर ये मकान है खेत है आ, तेल के कुएं क्रूड ऑयल है मतलब प्रॉपर्टी की वजह से जो युद्ध होता है उसमें सबसे अहम जो मेन रीजन होता है वो प्रॉपर्टी होता है इसलिए मिलिट्री का सारा खर्चा है वो मिनरल में से निकलना चाहिए और वेल्थ में से निकलना चाहिए इसलिए वेल्थ टैक्स और जो एमआरसीएम की प्रपोजल है कि 33 परसेंट मिनरल है वो मिलिट्री के लिए जाएगा वो इसी में से आता है ये सारे ट्रांजेक्शन टैक्स है वो सेना की पुलिस की या मिलिट्री की जरूरत बढ़ाते ये जरूरी नहीं है दूसरा एक परसेंट टैक्स ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ कि हर एक ट्रांजैक्शन से इक्वल बेनिफिट हो रहा है सोसाइटी को या रिसीवर को या गिवर को वो भी गलत है जैसे कि मेरा एम्प्लॉयर मुझे मान लो महीने की पचास हजार की सैलरी देता है तो पूरी पचास हजार की सैलरी मेरी इनकम हो गई तो उस पर एक परसेंट टैक्स और एक व्यापारी ने पचास हजार का सामान खरीदा और फिफ्टी टू थाउजेंड में बेचा तो उसका ट्रांजैक्शन हो गया एक लाख एक लाख चार हजार पर एक लाख मान लो और उसमें भी टैक्स लगा एक परसेंट जब उसको तो प्रॉफिट हुआ था सिर्फ दो परसेंट दो हजार का तो उसपे यदि मतलब कि ये हम एग्जांपल लेते हैं कि एक हजार लोन पे दिया एक हजार दो हजार लिया उसके बाद हम एक परसेंट ट्रांजेक्शन टैक्स लेते हैं तो वो equivalent to hundred percent income tax हो गया इसपे यदि हम दो हजार रुपया ट्रांजेक्शन टैक्स लेते हैं तो एट परसेंट हुआ पर almost equivalent to hundred percent income tax हो गया जबकि किसी की एक लाख की सैलरी थी तो उस पर वन परसेंट ट्रांजेक्शन टैक्स हो गया या किसी की एक लाख की लॉटरी थी तो वो भी वन परसेंट ट्रांजेक्शन टैक्स में वन परसेंट इनकम टैक्स हो गया यानी किसी को हर एक ट्रांजेक्शन इतना कमाऊ नहीं होता ट्रांजैक्शन कितना भी बड़ा हो शेयर मार्केट है जैसे तो उसमें तो ट्रांजैक्शन में कभी-कभी सिर्फ 0.1 परसेंट का प्रॉफिट होता है जो प्रोग्राम ट्रेडिंग है उसमें तो पूरे दिन वो लोग खरीदते हैं बेचते हैं खरीदते बेचते हैं एंड में जितना रुपया उसने सुबह से शुरू किया था शाम को उसको रिटर्न कितना मिलता है उसका मुश्किल से एक परसेंट दो परसेंट मिलता है उसको प्रोग्राम ट्रेडिंग में इसी तरह से सोने में है गोल्ड में मैंने जैसे आपको बताया कि होलसेल में मार्जिन है पॉइंट वन परसेंट रिटेल में मार्जिन है एटमोस्ट पॉइंट टू परसेंट तो बहुत सारे बिजनेस जो कि कम मार्जिन पे चलते हैं उस पर सीधा point three percent transaction tax डालना भी बहुत ज्यादा है फिर बहुत सारे अलग अलग प्रपोजल आ रहे हैं कि भाई ट्रांजेक्शन टैक्स घटा के पॉइंट जीरो फाइव परसेंट कर दो तो उसमें फायदा क्या हुआ बाकी सारे टैक्स चालू रखने पड़ेंगे अब 0.05 परसेंट तो वैसे भी बैंक ले रही है मैं कैसे कहता हूँ वैसे भी बैंक ले रही है कि आपके पास मान लो सौ रुपए का नोट है वो सौ रुपए का नोट बाजार में घूम रहा है एक साल के बाद उसकी कीमत क्या हो गई नब्बे रुपया क्योंकि इन्फ्लेशन है गवर्नमेंट नोट छाप रही है तो सौ रुपए की कीमत हो गई नब्बे रुपया यानी उसपे इफेक्टिवली 10 परसेंट तो टैक्स लगाई हर एक ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं लगा पर वो नोट मान लो साल में 10 बार घूमी तो 1 परसेंट ट्रांजैक्शन टैक्स तो हुआ ही यदि नोट 100 बार घूमी तो 0.1 परसेंट पर नोट साल में 100 बार नहीं घूमती है आमतौर पर मान लो कि नोट है वो साल में 10 बार घूमती है तो ऑटोमेटिकली 1 परसेंट ट्रांजेक्शन टैक्स तो नोट पे लग ही रहा है इसी तरह से आपने मान लो सेविंग्स में पैसा रखा है आपको आपने बैंक से पैसा ट्रांसफर किया तो आपको पैसा सेविंग्स में डालना पड़ेगा या तो करंट में डालना पड़ेगा और फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट कितना होता है 8 परसेंट के करीब करीब करंट में इंटरेस्ट कितना होता है 0 परसेंट और सेविंग्स में कितना होता है साढ़े तीन परसेंट या चार परसेंट मान लो तो ऑटोमेटिकली चार परसेंट का इंटरेस्ट लॉस हो रहा है आपको और ऐसा तो है नहीं कि सेविंग्स में डाला और दूसरे दिन फिक्स डिपॉजिट ले लिया और फिर से दूसरे दिन फिक्स डिपॉजिट तोड़ के वापस सेविंग्स में डाला यानी ऑन एन एवरेज एक साल जो पैसा इसमें रहता है करंट में या सेविंग्स में उस पर भी एक तरह का 8 परसेंट नहीं तो 4 चार परसेंट नहीं तो 6 एवरेज लेता हो तो 6 परसेंट या तो उसको इन्फ्लेशन से कंपेयर करो तो 8 परसेंट जितना ट्रांजैक्शन टैक्स लगा तो ऑलरेडी जो ट्रांजैक्शन है मतलब सॉरी 8 परसेंट नहीं ये चेक का पैसा 10 बार घूमता है साल में जैसा आ, साल में सॉरी 20 बार घूमता है टोटल लिक्विड मनी है 50 लाख और वो 20 बार घूमता है और उससे हजार लाख का और एक हजार लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन होता है तो हर एक ट्रांजेक्शन पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉइंट टू परसेंट या पॉइंट वन परसेंट जितना टैक्स इन्फ्लेशन से लग ही रहा है आज अब ऐसे में यदि पॉइंट थ्री परसेंट का ट्रांजेक्शन टैक्स डालते हैं या पॉइंट वन परसेंट का डालते हैं तो एक टैक्स और बढ़ गया जो कि वैसे ही छोटे व्यापारियों को ज्यादा परेशान करेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने मान लो 0.1 परसेंट ट्रांजैक्शन टैक्स भी डाला तो क्या होगा कि जो छोटे व्यापारियों का जो फार्मर का मैंने बताया कि फार्मर टू होलसेलर था उसमें वो ट्रांजैक्शन टैक्स 5 परसेंट था वो कम होकर 0.5 परसेंट हो गया लेकिन MNC में वो ट्रांजैक्शन टैक्स कितना लगेगा 0.1 परसेंट पॉइंट परसेंट यानी 0.2 परसेंट यानी इसमें MNC को 0.3 परसेंट का तो बेनिफिट होगा ही यानी वो 0.3 परसेंट डिस्काउंट देके काफी सारा धंधा उनका तोड़ सकते हैं तो छोटा ट्रांजैक्शन होगा तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि इनकम टैक्स ये सब चालू ही रहेगा और ऊपर से एक और टैक्स आ गया और यदि ट्रांजैक्शन टैक्स में कोई बहुत बड़ी अमाउंट तक ले जाते हैं one percent one point five percent तक तो मैं जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि सारा धंधा है वो बड़ी कंपनियों के अंदर में चला जाएगा इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप एक्टिविस्ट को कि आप ट्रांजेक्शन टैक्स के बारे में पढ़िए पर इस ख्याल में कि ये आएगा तो सब कुछ बाकी सारे टैक्स निकल जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा वो गलत है टैक्सेशन का प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एक रोम के रोम के इतिहासकार ने लिखा था मतलब रोम का एक अफसर था उसने अपने सीजर जूलियस सीजर जो कि रोम का एम्पर था उसने एक कलेक्टर लेवल के अफसर से घंटों तक बहस की टैक्स के बारे में तो वो चला गया उसके बाद वो कलेक्टर ने जो गवर्नर लेवल का अफसर था उसको पूछा कि ये रोमन सीजर है जो कि इतने बड़े रोम का सम्राट है और उसको इतना सारा दिमाग क्यों खपाता है टैक्स के पीछे तो उसने कहा कि वो टैक्स के पीछे दिमाग खपाता है इसलिए वो एम्पर है मतलब कि देश चलाने के लिए टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है और इस तरह की जो मैजिक सॉल्यूशन है कि दो परसेंट का टैक्स आएगा सारे टैक्स गायब हो जाएंगे ऐसे मैजिक सॉल्यूशन पे आप भरोसा मत करो जादुई छड़ी वाले जो सॉल्यूशन है कि हैरी पॉटर जादुई छड़ी घुमाएगा और सारे प्रॉब्लम सॉल्व ऐसा नहीं है टैक्स का एक एक क्लॉज आप डिटेल से स्टडी करो और उसको देखो कि कैसा असर पड़ता है कि वेल्थ टैक्स क्यों देश में गरीबी कम करता है क्यों उससे प्रोडक्शन बढ़ता है रेंट क्यों उससे कम होता है वेल्थ टैक्स से क्यों उससे बिजनेस बढ़ते हैं और वेल्थ टैक्स के बजाय ये इनकम टैक्स क्यों थोड़ा खराब है और क्यों सेल्स टैक्स और भी खराब है एक्साइज और भी खराब है ये सारे चीजों की डिटेल में स्टडी करने की जरूरत है धन्यवाद